ॐ वाङ्मे प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आ के ऊपर विचार चल रहा है अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है आत्मज्ञान के लिए आगे उपनिषद के ऊपर व्याख्या लिखनी है कि नहीं लिखनी है तो पूर्व पक्ष कर्म ज्ञान समुच्चय आदि भक्ति प्रपंच है औपवर्ष है इत्यादि लोग बोलते हैं कि इसके लिए आवश्यकता नहीं है आत्मज्ञान के लिए उपनिषद के ऊपर व्याख्या लिखना आवश्यकता नहीं है क्यों आत्मज्ञान जो कर्म के लिए अपेक्षित ज्ञान है कर्ता बुद्धि वाला आत्मज्ञान मैं एक यजमान हूं कर्म करता हूं जितना ज्ञान इतना पर्याप्त है कर्म करने के लिए ज्ञान आत्मज्ञान का तो उतना है वो तो कर्म ज्ञान का बन के काम कर जाता है इसलिए शुद्ध आत्मज्ञान के लिए अकर्ता भोक्ता आत्मज्ञान के लिए लिखने की आवश्यकता ऐसा आत्मा है ही नहीं ऐसा उनका कहना है सिद्धांत कहा है <clears throat> जब कर्म करता है तो कर्म संबंधी आत्मा मानता है जब तीनों शरीरों से अतिरिक्त अवस्था में होता है कर्म जब होता है मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हूं इत्यादि जाति का अभिमान वर्ण का अभिमान और आश्रम का अभिमान मैं अमुक आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम में हूं गृहस्थ आश्रम में हूं बानप्रस्थ में हूं इत्यादि जो भी तो वर्ण का अभिमान और आश्रम का अभिमान पूर्वक कर्म होता है और आत्मज्ञान होता है वर्णाश्रम धर्म को बांध कर होता है कोई जाति नहीं ब्राह्मण आदि जाति नहीं ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वाला भी नहीं ऐसा ज्ञान होता है जब वो ज्ञान होगा तो कर्म नहीं कर सकता तो कर्म ज्ञान दोनों का समुचय होना संभव नहीं तो ऐसा ज्ञान नहीं होता ये भी नहीं कर सकते होता है क्यों शास्त्रकृत है और दोनों के दोनों कर्म का कर्मकांड भी शास्त्रकृत है और ज्ञान भी शास्त्र कृत है तो दोनों होने पर कर्मकांड भी लिए जाए ऐसा पूर्वाद की शंका उठाई थी सिद्धांत ने कहा जो अन्य प्रमाण से अप्राप्त है वो शास्त्र का विषय होता है आत्मज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाण किसी से प्राप्त नहीं है स्वाभाविक प्राप्त नहीं है स्वाभाविक तो अहम मनुष्य ऐसी बुद्धि प्राप्ति है उसमें कर्म करने का अधिकार प्राप्त है तो जो स्वाभाविक प्राप्त होने वाले को शास्त्र के द्वारा विधान करना आवश्यकता नहीं है जो स्वाभाविक प्राप्त नहीं उसी का विधान शास्त्र के द्वारा किया जाता है कोई आत्मज्ञानी प्राप्त आत्मज्ञानी शास्त्र के द्वारा विधान होता है ऐसा कहा अब पूर्वादि बोलता है विधि अभाव न वेदांताना तात्विक आत्मबोधकत्व देखो ज्ञान में विधि नहीं होता है ज्ञान करो ऐसा नहीं होता वाक्य नहीं होता यज्ञ करो ऐसा वाक्य होता है ज्ञान करो ज्ञानार्जन करो बोलते हैं माने ज्ञानार्जन करना माने ज्ञान के साधन करो बोला हुआ होता है जो ज्ञान के साधन है उसके लिए उसमें प्रयुक्त होता है तो ज्ञान में विधि नहीं है आत्मज्ञान में विधि वाक्य नहीं है विधि अभाव वेदांत आनंद उपनिषद वाक्य है विधि नहीं है लिंग लोट तब्यत आदि विधि नहीं है जहां लिंग लकार लगा हो लोट लकार लगा हो तब्यत लगा हो तभी वहां पर सुनने के बाद में कुछ क्रिया होनी चाहिए सुनने वाले श्रोता में कुछ क्रिया होनी चाहिए जैसे एजेता वाक्य आया तो सुनने पर यज्ञ करेगा वो स्वर्ग काम हो यज्ञ स्वर्ग चाहता था पहले से वो स्वर्ग की चाहना शास्त्र से विधान नहीं है वो तो स्वाभाविक इच्छा है इष्ट की योग की इच्छा स्वाभाविक है शास्त्र यही विधान करता है तुम स्वर्ग चाहते हो तो यज्ञ करो यज्ञ का विधान किया तो वो सुनने के बाद में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है विधि वाक्य सुनने के बाद श्रोता की प्रवृत्ति होती है और ये वेदांत वाक्य सुनने के बाद में कोई प्रवृत्ति नहीं है अहम ब्रह्माष्टमी सुन के कोई क्रिया करेगा क्या कुछ नहीं करता अयम आत्मा ब्रह्म सुन के कोई क्रिया नहीं होती उसमें जैसे स्वर्ग काम यजत तो वाक्य सुनने के बाद सुनने मात्र से नहीं रहता हो आगे कर्म करता है इस प्रकार यहां कोई विधि वाक्य नहीं होता यही पूर्वाधिक है विधि अभाव है न वेदांता नाम न तादृक तुम ऐसे कर्मकांड का बाधक जो आत्मबोध ऐसा आत्मबोध ज्ञान होना संभव नहीं ये शंका पूर्वादि की है उसके उत्तर देते हैं सिद्धांत की ओर से पुरुष से कर्तव्या कर्तव्याभिमुख करणार्थत्वाद विधि देखो विधि का प्रयोजन क्या है क्यों विधि वाक्य को सुनने वाला जो व्यक्ति होगा वो पुरुष उसको कर्तव्य के तरफ अभिमुखी करना उसका काम होता है मेरा एक कर्तव्य है मुझे करना है ऐसी इच्छा जग जाए विधि का बाकी ये तो सुनने के बाद में मम इदम कर्तव्यम याद मम कर्तव्य ऐसा ख्याल होगा उसको तो कर्तव्य के तरफ व्यक्ति को अभिमुखी करना विधि वाक्य का प्रयोजन है वो प्रयोजन यहां भी है वेदांत में भी है ठीक है जैसे विधि वाक्य में विधि वाक्य का प्रयोजन होता है कर्तव्य के प्रति श्रोता को अभिमुखी करना ये उसका प्रयोजन होता है ऐसे प्रयोजन यहां भी है उपनिषद वाक्यों में भी है ये सिद्धांत पुरुष से कर्तव्याभिमुखी क्रमार्थत्वाद विधे विधि का प्रयोजन यही है विधि माने लिंग लोटतव्य जहां लगा हुआ जैसे एजेता आदि आएगा वहां पर जो एजेत सुनने वाला जो व्यक्ति होगा एजेत काम एजेत सुनने वाला व्यक्ति का कर्तव्य के प्रति अभिमुखी कराना अग्रसर कराना इतने तात्पर्य उसका है ठीक इसी प्रकार यह वेदांत वाक्य वेदांत वाक्यों में उपनिषद जन्य वाक्यों में भी आत्मज्ञान अभिमुखीकरणार्थम वेदांत वाक्य जितने भी आते हैं आत्मज्ञान का विधान नहीं करते आत्मज्ञान के लिए अभिमुखी कराते हैं साधन के ऊपर प्रेरित कर देते हैं आत्मज्ञान अभिमुखी करवार्थम विधि स्वरूप से अर्थवाद से यहाँ अर्थवाद वाक्य है विधि के समान जैसे विधि वाक्य वहां कर्मकांड में है इसी प्रकार विधि के समान यहाँ भी अर्थवाद वाक्य है सत्वाद स्वरूप बोधक तत्पर वाक्य से दूसरी बात स्वरूप के बोधक वाक्य भी है ये तो अर्थवाद वाक्य यहां पाए जाते हैं वेदांतों में उपनिषदों में जैसे विधि वाक्य है कर्तव्यता के प्रति अभिमुखी करने के लिए होता है यहां भी आत्मज्ञान के लिए अभिमुखी कराने के लिए वाक्य मिलते हैं विधि के समान वाक्य हैं अथवा स्वरूप बोधक वाक्य भी है आत्मा का स्वरूप कथन करने वाला वाक्य भी है स्वरूप बोधक तत्पर वाक्य ऐसे स्वरूप स्वरूप बोधक वाक्य होने से सत्वाच नहीं दो दो हैं माने विधि के समान अर्थवाद वाक्य भी है और स्वरूप बोधक वाक्य भी है मेरा इसलिए ऐसा नहीं कहना माने आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकते मत कहना करा सकते हैं कहा या टिप्पणी है दो तीन विधि स्वरूप में या टिप्पणी में भी दिया भाष्य टीका में स्वरूप शब्द दिया वहां स्वरूप शब्द समान रूप समान रूप स्वरूप ऐसा पाठ होना चाहिए टिप्पणी लगाने के लिए अत्र विधि स्वरूप से उत्तम जहां स्वरूप पाठ होगा और स्वरूप से होना चाहिए पाठ करके टिप्पणीकार का है स्वरूप पहले हो तो फिर यहां बोलना ठीक नहीं होता तो विधि स्वरूप से उत्तम यथाश्रुतम तू यदि जैसा हो स्वरूप पाठ हो ऐसे फिर में क्या होगा तो विधि स्वरूपम इव स्वरूपम ऐसे ऐसा पाठ करना जैसे विधि का स्वरूप होता है उसी प्रकार का स्वरूप जिसका जिसका अर्थ बात का यह अर्थ करना ये बता और तीसरी बात स्वरूप बोधक से कहा तीन नंबर में कहते हैं तीन नंबर का यथोक्त अर्थवाद है ना ज्ञानाभिमुखावे भी अर्थवाद के द्वारा ज्ञान के अभिमुख न होने पर भी विधि रही विधि विरही वाक्यात चते ज्ञानम इतिहास पूर्वाजी बोलता है अर्थवाद है वेदांत में अर्थवाद वाक्य मिलेगा अर्थवाद का उदाहरण देंगे अभी होने पर भी पूर्वादि कह रहा है यथोक्त अर्थवाद है ना ज्ञानाभिमुखी भावे भी ज्ञान के अभिमुख न होने पर ज्ञानामुखी भावे भी ज्ञान के अभिमुख होने पर भी विधि विरही वाक्या विधि वाक्य तो है ही नहीं वो इसलिए विधि विरही वाक्य नोत्पत्स्यते ज्ञान विधि का अभाव वाला वाक्य से ज्ञान नहीं होता नोत्पत्ते यहां प्रकार छूटा हुआ है नोत्पत्ते ज्ञान आशंका ऐसी शंका पूर्वाजी कहा स्वरूप बोधक से सत्वा स्वरूप बोधक वाक्य भी है ये सिद्धांत विधिना एवं ज्ञान विधि निर्मूला निर्मूल विधि से ही ज्ञान होता है ऐसे कोई मूल नहीं मिलता प्रमाण नहीं है अन्य प्रकार से भी ज्ञान होता है स्वरूप बोधक वाक्य से भी होता है अर्थवाद से भी होता है ज्ञान होता है ये कहना चाहते हैं ये कहना कहने वाले हैं तो भाष्य में कहते हैं न बोधयती चेत वेदांत वाक्य ज्ञान नहीं करा सकता आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकता ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत करना आत्मा विद्या प्रज्ञानम ब्रह्म इति चौकसंहारा ऐसे मंत्र हैं समय आत्मा विद्या विद्या जो है ना विधिलिंग दिखाई पड़ रहा है किंतु विधि छाया है विधि नहीं है माने अर्थवाद वाक्य है वो मेरी आत्मा ऐसा जाने ऐसा कहा या जान विधान नहीं है विधि नहीं होता क्यों ज्ञान में विधान होता ही नहीं ज्ञान के साधन में विधि है ज्ञान के साधन करो ज्ञान करो नहीं तो ज्ञान होने की वस्तु है करने की वस्तु नहीं है साधन करने की वस्तु है ज्ञान तो होने की वस्तु है तो वहां विधि नहीं होता ये क्या है अर्थवाद वाक्य है समय आत्मा एक विद्या ऐसे वाक्य अर्थवाद है तो ये समय आत्मा विद्यात आगे प्रज्ञानम ब्रह्म स्वरूप बोधक वाक्य है ये आत्मा का स्वरूप का तो बोधक दो बातें बताई थी टीका में सिद्धांत ने माने विधि वाक्य न होने पर भी विधि के समान अर्थवाद वाक्य है यहां अथवा स्वरूप बोधक वाक्य है ये प्रज्ञान ब्रह्म स्वरूप बोधक वाक्य ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है ऐसा कहा है उपसंहारात कहा तो उपसंहार में दोनों यहां भाष्य में दोनों को उपसंहारात के साथ क्रिया हो, के साथ अन्य हो रहा है किंतु यह टिप्पणीकार कहते हैं समय इत्यादि मृगम बचा ये समय आत्मा इति विद्या ये जो यहां पर पाठ है ये ढूंढना चाहिए अन्वेषण करना चाहिए यह पाठ कैसे आ जाएगा टिप्पणीकार क्या है समय समय इत्यादि भृग्यम वचन द्वितीयाध्याय उपक्रम भाष्य टीकायाम संहितोपनिषद बक्षते कहते हैं आगे इसी का द्वितीयाध्याय मैंने उपनिषद क्रम से द्वितीयाध्याय आरण्य क्रम में पंचम अध्याय पहुंचेगा उसके उपक्रम में भाष्य के टीका में लिखा है संयुदोपरिषदी ये पद का वाक्य है समय विद्या तो ऐसा कहा है और संयुदोपरिषद कहाँ है सात इत प्राच्य आरण्य आगे भविष्य और वो परिषद इसके पूर्व आरण्यक भाग में होना चाहिए तो यहाँ उपसंहाराद के साथ इसका अन्वय कैसे हो गया आत्मा इति विद्या का ये टिप्पणीकार का है इसलिए ये वृज्ञम बचा है समय आत्मा विद्या ये मंत्र नहीं है ये बात नहीं किंतु उपसंहाराद के साथ में इसका अन्वय कैसे हो गया तो ये इसके जो द्वितीय अध्याय उपनिषद का द्वितीय अध्याय आएगा उसके अवतरण भाष्य में वहां टीका में बोलेंगे साठ पृष्ठ में इसकी इस पुस्तक में साठ पृष्ठ में नीचे से ऊपर की लाइन में टीका है समय आत्मा इत्यादि संयोगपति ही ऐसा अर्थ दिया है ये कह रहे हैं साच करके कहा वो जो ये, ये वाक्य है क्या है साच वो संगीतोपनिषद कहा है इत प्राच्य आर्थिक भाग्य आगे बनते बढ़ते ऐसा इस पुस्तक में साठ पृष्ठ में नीचे से टीका में द्वितीय लाइन में मिलेगा टीका साठ पृष्ठ ऐसा वहां टीकाकार ऐसा बोले संगीतो तो- परिषद में दिखाएंगे तो परिषद इससे पहले होना चाहिए ये कहा इसलिए ये जो न बोधे ये समय आत्मा विद्या यहां कैसे पाठ ये उपसंग आराध के साथ अन्वय कैसे होगा ऐसा बताया आगे कहा स्वरूप बोधक वाक्य और क्या है तद आत्मा जब अवेद क्या अर्थवाद वाक्य उसने अपने को ही जाना वृद्धार्मिक श्रुति है और तत्वमसी तो स्वरूप बोधक वाक्य है तुम तो वही हो करके बोला जा रहा है इतव आदि वाक्या नाम तत्परत्वाद आत्मज्ञान परत्वाद यह सब आत्मज्ञान पैदा कराते हैं वाक्य सुनने पर आत्मज्ञान होगा उसको तत्परत्वा मन आत्मज्ञान परत्वाद उत्पन्न से ब्रह्म ब्रह्मात्म विज्ञान से अबाध्य महात्वाद और अहम ब्रह्माष्टमी एक बार उदय हो जाए वो ज्ञान फिर बाद नहीं होगा उसका अबाध्यमान है बाद नहीं होता उस ज्ञान उत्पन्न से जो ब्रह्मात्मा ज्ञान से जब अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान हो जाए फिर वो ज्ञान का बाध नहीं होगा अबाध्य माना किसी के द्वारा बाधित नहीं होता रज्जु में पहले जो भ्रांति होती है सर्प ज्ञान होता है उसका बाध होता है इम रज्जु के द्वारा जब इम रज्जु ज्ञान हो जाए फिर वहां भ्रांति नहीं होगी वो तो रज्जु ही रहेगा एकदम नायम सर्प इम रज्जु जब हो जाए वो रज्जु का ज्ञान हो गया उसी स्थिति आने पर फिर सर्प ज्ञान नहीं होगा जो बाध माने भ्रांति ज्ञान का बाधक ज्ञान जो पैदा हो जाए उस बाधक ज्ञान का फिर बाध्य कोई हो, बाधक कोई होता है कहा भी है समस्विजाति में कहा देहात्म ज्ञान बस ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनिव भवे गच्छन विमुचत महाभारत में विजाति में कहा है देहात्मक में जितने आत्मबुद्धि अभी हो रही है मैं मनुष्य हूं जितने दिनों से हम वेदांत सुन रहे हैं सुना रहे हैं किंतु तो मैं मनुष्य हूं ये गया नहीं है देहात्म बुद्धि देहात्म ज्ञान वक्त जैसे देहात्मा में आत्मबुद्धि हो रही है देहात्म बुद्धि जैसे बनी हुई है ऐसे ज्ञान देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम जैसे देहात्मा में आत्मबुद्धि जिस प्रकार का दृढ़ है ऐसे ज्ञान देहात्म ज्ञानवादगम आत्मनि भवे देहात्म बुद्धि को बांधने वाला ज्ञान आत्मा में हो जाए अहम ब्रह्मास्म न हम देह न मे देह अहम ब्रह्मास्मि ऐसा देहात्म ज्ञान अवज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम देहात्म बुद्धि के समान ही जितने दृढ़ है देहात्म बुद्धि इसी प्रकार के दृढ़ बुद्धि देहात्म ज्ञान को बाधने वाली बुद्धि आत्मा में हो जाए आत्मा ही एवं भव्य देश जिसको आत्मा में हो जाए निच्छा न सके कोई इच्छा न करे तब भी उसकी मुक्ति है ऐसा कहा तो ऐसे यहां भी कहते हैं उत्पन्न से ब्रह्मात्म विज्ञान से मानव प्राप्त जो उत्पन्न हो गया ब्रह्मात्म विज्ञान अहम ब्रह्मास्म विज्ञान हो गया देहात्म बुद्धि को बाधने वाला ज्ञान उत्पन्न हो गया जब यानी भ्रांति ज्ञान था देहात्म बुद्धि ज्ञान भ्रांति ज्ञान उस भ्रांति ज्ञान को बाध करने वाला अहम ब्रह्मास्म ज्ञान हो जाए देह को छोड़ करके अतिरिक्त होकर के अहम ब्रह्मास्म हो जाए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से अलग करके अहम ब्रह्मास्म बुद्धि हो जाए उस ज्ञान को बाध करने वाला कोई नहीं होगा कोई मिलेगा नहीं उत्पन्न से तो ब्रह्मात्म विज्ञान से अवाद्यमानत्वाद न अनुत्पन्नम भ्रांतम व यदि सत्यम वक्तम उस आत्मज्ञान को हम ब्रह्मास्म ज्ञान को उत्पन्न नहीं हुआ भी नहीं कह सकते हैं इन वाक्यों को सुनने पर उत्पन्न होगा ज्ञान ऐसी वृत्ति बनेगी हम ब्रह्माष्टमी वृत्ति और उस ज्ञान को भ्रांत ज्ञान अभी नहीं कह सकते हाँ, माने भ्रांति भी नहीं कह सकते उसको वो यथार्थ ज्ञान है वो हम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होगा वास्तविक ज्ञान वही है भ्रांति ज्ञान तो हम मनुष्य है भ्रांति जैसे रज्जु को सर्प समझना भ्रांति वैसे आत्मा को शरीर समझना भ्रांति है ये इस भ्रांति को मिटाने वाला जब अहम ब्रह्मास्म ज्ञान होगा उसका बात करने वाला कोई नहीं होगा जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान था भ्रांति अब जब इम रज्जु ज्ञान हो गया वो ज्ञान को मिटाने वाला कोई नहीं होगा उसका बात नहीं कर सकता यही कहा उत्पन्न से जो ब्रह्मात्म विज्ञान से अबाध्य मानवाद उत्पन्न हो गया अहम ब्रह्मास्म ज्ञान जो ब्रह्मात्म ज्ञान है वो अबाध्यमान है उसका बाध नहीं हो सकता क्यों पूर्व में जो भ्रांति ज्ञान है उसको मिटाने वाला ज्ञान है उसको कौन मिटाएगा उसको हटा नहीं सकता अच्छा। न अनुत्पन्नम भ्रांतम भी सत्य मत वो आत्मा को उत्पन्न आत्मज्ञान को उत्पन्न नहीं हुआ ये नहीं कहते वाक्य है इन ज्ञान से वाक्य होता है हाँ। और ये जो प्रज्ञानम ब्रह्मा आदि आदि बोलेंगे ज्ञान होता है समय आत्मा विद्या प्रज्ञानम ब्रह्मा आत्मा अवेद तत्वमसी आदि बहुत सारे वाक्य है ऐसे स्वरूप वाक्य और अर्थवाद वाक्य है उनसे ज्ञान होता है और अर्थवाद वाक्य में भी भूतार्थवाद में स्वार्थ में तात्पर्य होता है तीन प्रकार के अर्थवाद होते हैं गुणवाद और एक होता है भूतार्थवाद विरोधे गुणवाद अपवादो अपवाद अनुवादो बधारित अनुवाद रूप अर्थवाद होता है भूतार्थवाद होता है जैसे आदित्य यूपा ऐसा बोल दिया अंदर यज्ञ भूमि में एक खंबा गाड़ा हुआ है पशु बांधने के लिए उसका नाम आदित्य करके बोल दिया ये युग तो आदित्य है खंबा तो आदित्य है सूर्य है माने वो सूर्य नहीं हो सकता है उसकी प्रशंसा है उसके जैसे आदित्य में चमकीलापना है वैसे इसमें भी चमकीलापना है इतना सुंदर है ये इसको लेकर के उसको आदित्य शब्द का प्रयोग कर दिया उसमें स्वार्थ में तात्पर्य नहीं वो आदित्य नहीं हो सकता वो प्रशंसा में तात्पर्य है जो एक ऐसा गुणवाद और रूपी अर्थवाद है विरोध है गुणवाद आदित्य और खंबा का विरोध है कहां आदित्य कहां खंबा हो नहीं सकता विरोध है इसलिए उसको गुणवाद कहा मारे आदित्य का गुण उसने दिखा करके कहा दूसरा होता है अनुवादोपधारित प्रमाणांतर से निश्चित हो उसको दोबारा श्रुति बोलती हो उसको अनुवाद रूपी अर्थवाद कहते हैं जैसे अग्नि रिहिम से भेषजम ऐसा बोल दिया अग्नि ठंडी की दवाई है प्रत्यक्ष प्रमाण से पता जानता है सबको ठंडी लगती तो आग सकते हैं अग्नि रिहिम से भेषजम करके जब श्रुति बोलती हो वो अनुवाद रूपी अर्थवाद है प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध के अनुवाद किया हुआ श्रुति ने कोई अपूर्व का विधान नहीं किया हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध वस्तु का विधान किया और एक होता है भूतार्थवाद वो स्वरूप कथन वाला होता है वज्र पुरंदर बोला उसमें कोई विरोध भी नहीं है अनुवाद भी नहीं है विरोध भी नहीं अनुवाद भी नहीं निश्चित भी नहीं हुआ है अनुवाद नहीं कर सकते गुणवाद भी नहीं कर सकते क्योंकि विरोध होता वज्र हस्त पुरंदर के लिए नहीं होता इंद्र के हाथ में वज्र कोई अन्य प्रमाण विरोध कर देता ऐसा भी नहीं है तो विरोध नहीं कर सकता और ये भी नहीं कि कोई अन्य प्रमाण से सिद्ध है वज्रस्थ पुरंदर ऐसा भी नहीं है कि इसको भूतार्थवाद कहते हैं उसे प्रमाण माना गया है वैसे भूतार्थवाद है समझिए आत्मा के बारे में जो अर्थवाद कहते हैं भूतार्थवाद में आ जाते हैं टीका से देखें उपसंहाराद पद है भाष्य में न बोधय चेत न समय आत्मा विद्या प्रज्ञान ब्रह्म इति उपसंहारा हाँ। माने वेदांत वाक्य आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकता है ऐसा पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत का ऐसी बात नहीं है क्योंकि समय आत्मा विद्या ऐसा मंत्र है और प्रज्ञानम ब्रह्म यदि उपसंग आगे उपसंहार इसी वाक्य से होना है प्रज्ञानम ब्रह्म से उपसंहार होना है तो वहां पर स्वरूप परक वाक्य आता है उपसंहारा किसका प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञा ज्ञान सुप्रतिष्ठ ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उपसंहार इस वाक्य स्वरूप बोधक वाक्य है क्यों वेदांत वाक्य ज्ञान ये वेदांत वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान कराता है यही कहा उपसंगारात इति अनेन तत्सहचरित तथा नहीं तत्सहचरित आत्मा व इधम इत्यादि उपक्रमादि तात्पर्य लिंगम सूचय भी ये उपसंहारात से क्या लेना है कहते हैं उसके जो उपसंहार का सहचारी जो होंगे क्या होगा उपक्रम उपक्रमादि तत्संहारात जो भाष्य में दिया उसके पद से क्या लेना है तत्सहचरितम उसके सहचार पड़े हुए जो होंगे कौन आत्मा वही इधम अग्रे आशित इत्यादि जो प्रारंभिक वाक्य होगा ये सब वाक्य आएंगे कहा इत्यादि उपक्रमादि तात्पर्य लिंगम सोचेंगे वो उपक्रमादि जो षणलिंग है उसको दिखाता है वाक्य ज्ञानोत्पत्ति अनुवादी का अनुवादी कांड सिद्धि बलाद अनुत्पत्ति शंका न कार्य ज्ञान उत्पन्न करने वाली के अनुवाद करने ज्ञानोत्पत्ति की अनुवादी जो अनुवाद करने वाली कांड श्रुति है वृद्धारण श्रुति है तद आत्मान अवे ये जो वृद्धारक श्रुति है ज्ञान उत्पत्ति के अनुवाद करने वाली वाक्य है अनुवादी कांड श्रुति बलाद अभी कांड श्रुति वाले वृद्धारक श्रुति के बल से भी अनुत्पत्ति शंका न कार्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए वेदांत वाक्य से ज्ञान होता है कैसे कहा तद आत्मान अवे कहा उसने अपने को ही जाना तद से क्या लेना है टीका मैंने तद यदि जीव रूपेण अवस्थितम ब्रह्म अभी जीव भाव में पड़ा हुआ ब्रह्म ही था उस ब्रह्म ने अपने को ही जाना मैं ब्रह्म हूं हम ब्रह्मास्मि जाना तद आत्मन वे हम ब्रह्मास्मि तत्शब्द से लेना है जीव भाव से बैठा हुआ ब्रह्म उस ब्रह्म ने अपने को ही जाना ऐसा आता है तद यदि जीव रूपेण अवस्थितम ब्रह्म तद आत्मान व्यवहार में आया हुआ तत्पर ब्रह्म है किंतु जीव भाव में बैठा हुआ ब्रह्म जीवत्व मान के बैठा था बाद में साधना करने के बाद में मैं ब्रह्म हूं समझा ये कहते छांदोग्य बलाद अभी एवं एवं भदन गति सामान्य न्याय दर्शे छांदोग्य उपनिषद देखते हैं तत्वमसी यही बोलता है तुम वही हो जो जीवत्व भाव को प्राप्त हुआ को कहते तो ब्रह्म हो करके बोला जा रहा है एवं एवं यही है मैंने आत्मा का ज्ञान कराते हैं वेदांत वाक्य सिद्ध होता है ये गति सामान्य एक सूत्र है गति सामान्य वेदांत में वेदांत वाक्यों का सभी उसी आत्मा में समान सामंजस्य होता है यदि सामान्य या युक्ति दिखाते हैं कहा चार की टिप्पणी में कहा तथा सूत्रम गति सामान्य दीदी ब्रह्मसूत्र है ये अर्थ करते हैं तत्त वेदांत नाम अवगति नाम तत्त वेदांत जन्य ज्ञानों का अवगति मैंने ज्ञान वेदांत जन्य बात के मसीह आदि हो अम ब्रह्माष्टमी आदि हो जितने भी आएंगे उपनिषदों में उन वेदांत जन्य जो अवगति मैंने ज्ञान है ज्ञान नाम चेतन कारण विषय करते चेतन कारण विषय क्या है जहां जहां वेदांत जन्य ज्ञान होगा चेतन कारण वाला होगा होने से सामान्य सामान्य युक्ति होने से न अचेतनम जगत का कारण अरे अचेतन जो प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता ऐसा अर्थ किया यह तो आत्मा अवगति जनकत्व तद अवगति उत्पत्ति बोधकत्व समानत्वा समानत्व यहां देखते हैं वेदांत वाक्य जब यहां देखेंगे ऐतरूपनिषद में देखते हैं तो आत्मा के ज्ञान कराने में जनकत्व आत्मा अवगति जनकत्व उत्पन्न करने में और तद अवगति उत्पत्ति बोधकत्व आत्मा के ज्ञान के उत्पत्ति का बोधक वाक्य में समान है यहां भी आत्मा के ज्ञान के उत्पन्न कराने वाले वाक्य हैं समान है जैसे वहां कहा वैसे यहां भी यह कहा अच्छा ठीक है कहते हैं अनैन तदास्य विजज्ञ वाक्य से शुभ बोला सकते तत्वशी के आगे आता है जब नौ बार तत्वसी कहेंगे कहेंगे उद्दाल ऋषि तब सेतु केतु बोलता हाँ, तदास्य भी जब जो उसने अब जाना उस सेतु केतु ने अब अपने को जाना ये वाक्य आता है उसको भी लिया जाएगा अनेर वाक्य है ना तदास्य भी जज्ञ तद अश्य भी उसने जाना अपने को ही जाना ऐसा वाक्य शेष में उपलक्षित होता है कहा अयम आत्मा ब्रह्म यदि आदि शब्दार्थ इतव आदि वाक्या नाम भाष्य में आदि शब्द है तो आदि से लेना अयम आत्मा ब्रह्म भी लेना ये स्वरूप बोधक वाक्य है जैसे प्रज्ञान ब्रह्म या स्वरूप बोधक है वैसे वृद्धादि में स्वरूप बोधक वाक्य अयम आत्मा ब्रह्म है अयम ब्रह्म ये कहा अयम आत्मा मुंडक है मांडू के है मांडू के कर्तात्म बोधक कर्मकांड विरोधात उत्पन्न में ज्ञानम भ्रांत नीति आशंक पूर्वादि बोलता है महाराज अब ज्ञान होगा तो अहम अकर्ता रूप से ज्ञान होगा किंतु अहम करता ये ज्ञान को बाध करने वाला ज्ञान आएगा वो अहम अकर्ता जो ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्त्र ज्ञान होगा अहम करता अहम करता कहने के लिए मनुष्य मनुष्य तो विशिष्ट बुद्धि चाहिए मैं मनुष्य हूं इस यज्ञ का अधिकारी हूं अहम करता मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं इत्यादि अभिमान होगा देहाभिमान होगा तो कर्तृत्व आएगा तो इस कर्तृत्व ज्ञान का बाधने वाला ज्ञान है या अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञान ब्रह्मादि ज्ञान इसलिए भ्रांति ज्ञान है वो ठीक ज्ञान अच्छा ज्ञान नहीं है ये पूर्वाजी बोलता है कर्तात्म बोधक कर्मकांड में कहीं भी देखते हैं आत्मा को कर्ता रूप से स्वीकार किया होता है ऐसा ज्ञान कराता है कर्मकांड के वाक्य आत्मा को कर्ता रूप से सिद्ध करता है कर्त आत्मबोधक कर्मकांड विरोधा जो कर्ता रूप से आत्मा का ज्ञान कराने वाले जो कर्मकांड वाक्य हैं उनके साथ विरोध होने से उत्पन्न विज्ञानम भ्रांतम ऐसा प्रज्ञानम ब्रह्म आदि शब्दों के द्वारा ज्ञान उत्पन्न भी हो जाता हो स्वरूप बोधक वाक्य सुनकर भी ज्ञान होता है घटो अस्थि बोलने पर भी ज्ञान होता है कालिदास ने प्रयोग किया है अस्तित्व तरस्याम दिशे देवतात्मा नगा हिमालयो नाम नगाधि राजा मेघदूत में कहा है काव्य में तो वहां पर अस्थि पद का प्रयोग है उत्तर श्याम दिशे हिमालयो नाम नगाधि राजा देव, देवता नाम आत्मा अस्थि उत्तर दिशा में हिमालय नाम का जो पर्वतों का राजा है देवताओं का आत्मा देवता का प्रिय वस्तु है वहां है कहा इसे भी ज्ञान तो होता है माने विधि वाक्य न होने पर भी ज्ञान होता है स्वरूप बोधक वाक्य से भी ज्ञान होता है तो इसलिए कहता है पूर्वाजी कर्तृ आत्मबोध कर्तृ आत्मबोध का कर्मकांड विरोधात् कर्मकांड में आत्मा को कर्ता रूप से मानता है कर्म करने का माने कर्ता अंग रूप से मानता है उसको इस कर्तात्म बोधक कर्मकांड के विरोध होने से उत्पन्न विज्ञानम ये जो वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान होगा स्वरूप ज्ञान ये भ्रांत है भ्रांति ज्ञान है ऐसा पूर्वादि ने शंका उठाई तो सिद्धांत कहते हैं तस्य यथा प्राप्त कर्तात्मा अनुवाद वो जो कर्मकांड में जो कर्ता आत्मा को कर्ता रूप से जो माना हुआ है कर्मकांड वाक्य ने क्या है स्वाभाविक प्राप्त है कर्तृत्व उसी का अनुवाद किया उस वाक्य ने स्वाभाविक प्राप्त जो कर्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसका अनुवाद किया हुआ उस वाक्य तत्व माने कर्मकांड वाक्य कर्तात्म बोधक कर्मकांड वाक्य यथा प्राप्त कर्त आत्मानुवाद नाम उपाय मात्र परत्व उपाय मात्र है वो माने कर्म करने वाला यजमान को कर्ता रूप से माना है उपाय मात्र उपाय मात्र होने से न वस्तु पर वेदांत जन्य ज्ञान बाधकत्व ये वस्तुपरक है आत्मा वस्तुपरक वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म आदि वाक्य है इसलिए वो जो कर्मकांड में कर्ता रूप से माना हुआ आत्मा आत्मज्ञान कर्मकांड के द्वारा इसका बात नहीं होगा वो अनुवादक वाक्य है बात नहीं होगा उत्पन्न से कहा उत्पन्न से तो ब्रह्मात्म विज्ञान से अबाध्य माना जो हम में ज्ञान होगा उसका बाद नहीं होता ये राशि में कहा था ठीक है न उत्पन्न विधि न अनुत्पन्नम भ्रांतम भाई के साथ उत्पन्न नहीं हुआ भी नहीं कह सकते ज्ञान भ्रांत है भी नहीं कह सकते यथार्थ ज्ञान है ये वाक्य श्रवण अनंतरम अकर्ता आत्मा अहम ज्ञान से जो तत्वमसी आदि वाक्य सुनेगा प्रज्ञा ये सुपनिषद के आधार पर प्रज्ञानम ब्रह्म सुनेगा अयम आत्मा ब्रह्म सुनेगा तो जो महावाक्य सुनेगा सुनने के बाद में उसको क्या होगा वाक्य श्रवण अनंतरम महावाक्य सुनने के अनंतर अकर्ता आत्मा हम ऐसा ज्ञान होगा मैं अकर्ता आत्मा हूं सुनना पड़ेगा क्यों पहले देह विशिष्ट भाव में था मैं कर्ता आत्मा हूं मानता था अभी देह विशिष्ट नहीं है देह से रहित होकर के अहम ब्रह्माष्टमी आदि में गया हुआ है इसलिए आत्मा को अकर्ता समझता है ये कहा वाक्य श्रवण अनंतरम तत्वमसी आदि वाक्य यहाँ के हिसाब से प्रज्ञानम ब्रह्म वाक्य है महावाक्य इनके सुनने के अनंतर अकर्ता आत्मा अहम इति ज्ञान से मैं अकर्ता आत्मा हूं ऐसा ज्ञान हो गया उसको उस ज्ञान का अनुभव सिद्धत्व आदि अनुभव सिद्ध है अहम अकर्ता ज्ञान होता है तो नाहम अकर्ता ना हम अकर्ता इति विपरीत ज्ञान अदर्शनाच ना हम अकर्ता मैंने अवश्य करता ऐसा विपरीत ज्ञान होना संभव नहीं जब अकर्ता ज्ञान हो गया अहम अकर्ता न ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता विपरीत ज्ञान अदर्शनाच नोभयम भक्तुम सक्यम इसलिए दोनों ज्ञान होगा समर होना नहीं पहले आत्मज्ञान आत्मज्ञानी था अब आत्मज्ञान आत्मज्ञानी होगा वाक्य सुनने के पश्चात ये कहा आगे टीका विदुष प्रयोजना भावात्मा कर्मणी प्रवृत्ति उत्तम अभी तक यही हुआ ज्ञानी जो होगा आत्मव्यता यहाँ आत्मव्यता का अर्थ विविधु सन्यासी नहीं है विद्वत सन्यासी करता है आत्मज्ञान हो चुका है उसके बाद कर्म नहीं कर सकता यह तात्पर्य आत्मज्ञान के लिए कर्म छोड़ा नहीं है आत्मज्ञान होने के बाद कर्म छोड़ने की बात है ये विद्वत सन्यासी की चर्चा चल रही है विदुषाह वो जो ज्ञानी है उसका प्रयोजनाभाव उस कर्म करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं उसको स्वर्ग नहीं चाहिए पुत्र नहीं चाहिए ब्रह्मलोक नहीं चाहिए कर्म का साधन क्यों करेगा वो कर्म क्यों करेगा कर्म साधन है तत्त लोक प्राप्ति के साधन है क्यों करेगा वो कोई वस्तु चाहिए नहीं विदुषा प्रयोजनाभाव कोई प्रयोजन नहीं उस ज्ञानी को इसलिए न कर्म की प्रवृत्ति होता अब तक ये सिद्ध किया कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है उसके लिए कोई प्रयोजन सिद्ध प्रयोजन नहीं होता नहीं रहता कर्म से ज्ञानी को तो पूर्वादी बोल रहा है विदिशा प्रयोजना भावात न कर्म में प्रवृत्ति उत्तम आपने ये कहा ज्ञानी को कर्म में प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती प्रयोजन नहीं उसका तरी तत्यागे भी प्रयोजना भाव तथा भी न प्रवृत्ति से फिर कर्म त्यागने में तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा तो उसके त्याग न हो कर्म करता रहे जैसे कर्म में कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए कर्म नहीं करता बोलते हैं आप उसके त्याग में भी तो प्रयोजन नहीं है ना क्यों त्यागना कर्म को त्याग से कोई उसको मिलना नहीं है कर्म त्याग त्यागने से तो कर्म करता रहे ये एक शंका उठाता है तरी तब तो तत्त त्यागे भी उस कर्म का त्याग करने पर भी प्रयोजन अभाव कोई प्रयोजन नहीं है उसका ज्ञानी के लिए कर्म त्यागने से क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा जैसे कर्म करने से कुछ नहीं मिलता है कर्म त्यागने से भी कुछ नहीं प्रयोजन नहीं है इसलिए भी न प्रवृत्ति तो कर्म त्याग में भी प्रवृत्ति न हो माने कर्म करता रहे वो यदि संकते ये शंका है पूर्वादि की भाष्य में त्यागे भी आप आवश्यक तुल्यत्व चेत पूर्वादि ने कहा कर्म त्याग में भी तो प्रयोजन नहीं है उसका वही क्या सिद्ध होगा उसका कर्म त्यागने से जैसे कर्म से प्रयोजन नहीं है वैसे कर्म को त्यागने से भी प्रयोजन है तो त्यागने से प्रयोजन है तो कर्म क्यों छोड़े करता रहे ये शंका है त्यागे भी प्रयोजना आवश्यक तुल्यत्व कर्म के त्यागने में तो ज्ञानी को प्रयोजन क्या सिद्ध होना कुछ नहीं है क्यों गीता में भगवान ने कहा है ना कृत्य नियत ऐसा कहा है नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते न कश्चन न चाष्य सर्वभूतेशु कश्चित अर्थ प्रवास ज्ञानी के विषय में ऐसा कहा है ऐसा नैव तस्य कृते न अर्थ है जो कर्म के द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है न अकृत न करने से भी कुछ सिद्ध होने वाला नहीं न अकृते करने से भी कुछ नहीं होता न करने से भी कुछ सिद्ध नहीं होने वाला है क्यों कर्म करना न करना अपने लोक व्यवहार के लिए होता है सिद्धि के लिए होता है न चाहे सर्वभूतेश कश्य तरफ सभी संपूर्ण प्राणी मात्र में उसे कोई अर्थविपास रहे तो है ना व्यापार करना नहीं है किसी के साथ संबंध करना नहीं है क्यों कर्म करेगा ऐसा आया है तो पूर्ववादी ने कहा यही त्यागे भी प्रयोजन अभाव मित्र चेत उसी की व्याख्या है ना कृत्य न कश्य स्मृत गीता में ऐसा कहा है न करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको कहा है करने से कोई प्रयोजन सिद्ध भी नहीं न करने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं ऐसा कहा है गीता में ज्ञानी के लिए तो और उसी की व्याख्या हो रही है पूर्वादि की ये आहुर जो वेदांति लोग बोलते हैं अद्वैतवादी कहते हैं विदित्वा ब्रह्म व्युत्थान को याद ब्रह्म को जान करे व्युत्थान करे कर्म परित्याग करे व्युत्थान में लोकेशा वित्तेषणा पुत्रेशा ये तीनों को त्यागना है उसके लिए कर्म होना था लोक आदि प्राप्ति के लिए छोड़ देगा कर्म ये आहो जो वेदांति लोग ये कहते हैं विदित्वा ब्रह्म ब्रह्म विदित्वा व्युत्थान भूतुरिया ब्रह्म को जान करके व्युत्थान करे कर्म त्याग करे ऐसा कहते हैं तेसाम अभी समान दोष प्रयोजन अभाव उनके लिए भी ये दोष होगा ना कर्म करने पर प्रयोजन नहीं तो कर्म त्यागने भी तो कोई प्रयोजन का अभाव है क्या प्रयोजन मिलेगा प्रयोजन अभाव तेसाम अभी समान प्रयोजन अभाव दोष समान दोष है वहां जैसे कर्म करने में दोष उसी पर कर्म त्याग में वैसे दोष है क्यों त्यागे कर्म ये पूर्वाज ने कहा इसी चेत सिद्धांत कहते न अक्रिया मात्रत्वाद वृत्थान से देखो वो अनुष्ठान नहीं है कर्म को त्यागना कोई अनुष्ठान नहीं है जब कर्म कर रहा था छोड़ देना चुपचाप हो जाना इतने काम होगा कुछ नहीं है अक्रिया मात्रत्वाद इसलिए प्रवृत्ति नहीं होगी वहां कर्म में जैसी प्रवृत्ति होती है कर्म त्यागने में प्रवृत्ति नहीं होती अक्रिया मात्र व्युत्थान से कर्म त्याग किया है अक्रिया मात्र है कुछ करना नहीं चेष्टा का अभाव करना इतना काम है चेष्टा हो रही थी अपने आप बस समाप्त कर दे ये है क्यों वो जो चेष्टा शारीरिक चेष्टा होती है कर्म क्यों होता है कहते हैं अविद्या निमित्त ही प्रयोजन से भाव जो जो प्रयोजन फल फल की आशा करता है अविद्या के कारण से करता है जब तक ज्ञान है तब तक ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये बोलता है अविद्या निमित्तो ही प्रयोजन से भाव प्रयोजन का जो सत्व है तृष्णा प्रयोजन की तृष्णा लगी हुई थे कब तक जब तक ज्ञान है अविद्या निमित्त तो ही प्रयोजन से भाव प्रयोजन का जो भाव है मैंने सत्व है तृष्णा है वो तो तृष्णा जब तक अविद्या है तब तक है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए स्वर्ग चाहिए पुत्र चाहिए हम चाहिए बोलता है न वस्तु धर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है वो प्रयोजन जो है आत्मा का स्वरूप नहीं है वस्तु धर्म नहीं आत्मा का धर्म नहीं होता न वस्तु धर्म माने वस्तु आत्मा आत्मा धर्म नहीं होगा क्यों अविद्या निमित्त की होता है वो कैसे दिखाएंगे आगे सर्व प्राणी नाम तत्दर्शन जो प्रयोजन अविद्या जब तक अज्ञान है तब तक प्रयोजन देख करके उसकी प्रवृत्ति होती है देखा है प्रवृत्ति पशु आदि की प्रवृत्ति होती है प्रयोजन है भूख प्यास प्रवृत्ति है उसको मिटाना है इसके लिए अविद्या है अपने को शरीर भाव मानता है इसलिए घास आदि के लिए प्रवृत्ति होती है अविद्यादि तो ही प्रयोजन से भाव जो प्रयोजन प्रयोजन की तृष्णा है फलार्थ की तृष्णा क्या है अविद्या है न वस्तु धर्म आत्मधर्म नहीं है वो अविद्या की निवृत्ति होने पर वो जो फल के लिए कोई काम नहीं करेगा सर्व प्राणायाम तत्व सभी में देखा है ये प्रयोजन के लिए चेष्टा करते सभी में देखा है देखा प्रयोजन तृष्णया च प्रेरणा से बांगमन का आय ही प्रवृत्ति दर्शन जो प्रयोजन की तृष्णा से प्रेरित हुआ व्यक्ति है तत्त फलों की फल की प्रयोजन तत्त फल है उन फलों के तृष्णा से प्रेरित हुआ जो व्यक्ति होगा वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए तृष्णा रूपी जो फल है उस फल के द्वारा प्रेरित हुआ जो व्यक्ति फल रूपी जो तृष्णा तृष्णा के द्वारा प्रेरित हुआ व्यक्ति का क्या होता है बांग मन का ही प्रवृत्ति कहीं वाणी से प्रवृत्ति कहीं मन से प्रवृत्ति कहीं शरीर से प्रवृत्ति फल की तृष्णा से प्रेरित हुआ व्यक्ति होगा उसके लिए प्रवृत्ति देखी जाएगी मन से भी प्रवृत्ति होती है वाणी से भी होती है शरीर से भी होती है कौन से काम के लिए कौन सी प्रवृत्ति है ऐसा देखा है तो ये कहा कहा देखा है कहते सो काम आया था जाए के अज्ञानी को लेकर के वृद्धार्थ ने कहा उसने कामना की अज्ञानी पुरुष ने कामना की मैंने अज्ञानी माने क्या है अविद्या वाला है वो अविद्यावान है अविद्या वाला अज्ञानी वाला है उसने कामना की जाया में श्याद मेरी पत्नी हो जाए किसके लिए वो फल चाहता है पुत्र चाहता है पुत्रे नहीं लोग को जइया सुना उसने इस लोग को जितना तो पुत्र चाहिए बोला अब पुत्र के साधन पत्नी चाहिए इसे जाया में कामना करने लगे क्यों अज्ञानी फल की तृष्णा से प्रेरित है वो पुत्र चाहिए उसको पुत्र नहीं अयम लोग को चाहिए नान्य में कर्मणा कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक ऐसा मंत्र है यदि ब्रह्मलोक चाहिए तो उपासना करें पितृलोक चाहे स्वर्ग चाहिए तो कर्म करें अग्निहोत्रादि कर्म करें इस लोग चाहिए तो विवाह करें ऐसा आया तो जाया में सियात सो काम है तो जाया में सियात ऐसे वृद्धार्थ है उसने कामना की अज्ञानी ने कामना की इच्छा की मेरी पत्नी हो जाएगी वो फल की आशा से प्रेरित है वो फल वहां पुत्र चाहिए उसको अब पुत्र के लिए पत्नी चाहिए इसलिए पत्नी चाहता पत्नी के लिए पत्नी नहीं चाहता उसको पुत्र चाहिए इसलिए पत्नी चाहता फल के तृष्णा से प्रेरित हुआ व्यक्ति जो माने साधन में लग जाता है प्रवृत्ति होती है उसके साधन में यह है इत्यादि ना जाय सो काम है तो जाय विषय इत्यादि ना पुत्र वित्तादि पांच लक्षण काम्य देव उसने पांच प्रकार की कामना करता है पुत्र पुत्र वित्त माने दैव वित्त स्वयं होगा कर्म होने के लिए पांच चाहिए स्वयं यजमान चाहिए उसकी पत्नी चाहिए और पुत्र चाहिए और दैव वित्त मानस वित्त ये भी चाहिए उपासना आदि भी चाहिए गाय आदि भी चाहिए दान आदि करना है तो जहां नहीं होगा वहां कल्पना करेगा उपासना मात्र करना तो कल्पना करेगी पांच बनाएगा ऐसा है इत्यादि पुत्र आदि पांग लक्षण कर्म पंक्ति छंद के लेकर के पांग तक कहा पंक्ति छंद के एक एक पाद में पांच अक्षर होते हैं इसलिए पांच से जो सिद्ध होता है पांग तक बोला कर्म को पांच से कर्म सिद्ध होता है स्वयं हो पत्नी हो पुत्र हो दैवयुक्त वित्त हो इनसे होता है इसलिए उसको पांग तक कहा कर्म को पांग लक्षण कर्म काम्य मेव वो काम्य कर्म ही है काम्य आएगा जब तक अज्ञान है तब तक होगा ये काम काम्य मेव ऐसा कहा है दो नंबर की टिप्पणी है काम प्रवृत्त प्रवृत्ति विषय इति है इच्छा के द्वारा प्रेरित होकर के प्रवृत्ति का विषय होता है कर्म फल की इच्छा से फल की इच्छा है इसलिए उसे प्रेरित होकर के कर्म करता है व्यक्ति ये कहा और ज्ञानी को कोई फल की आवश्यकता नहीं है इसलिए उभे ही एते साध्य साधन लक्षण ऐसा एवं ऐसा कहा है ये दोनों के दोनों संसार दो रूप में पाया जाता है साध्य और साधन कुछ साधन होता है कुछ साध्य होता है माने फल और साधन दो रूप में है सारा संसार तो उभे ये साध्य साधन लक्षण जो साध्य और साधन स्वरूप संसार है ये दोनों ऐसा यही है फल इच्छा होगी साधना इच्छा हो जाएगी फिर कर्म आदि करने लग जाएगी दोनों ऐसा है ऐसा ही है दोनों इच्छा ही है कहा है बाजस नहीं ब्राह्मण है अवधारणा वृद्धारण में ऐसा निश्चय किया है ठीक है उसने तस्य विदुषा कृतेन कर्म अर्थो नास्ती अकृतेन कर्माभावे ना भी यह लोके नार्थो अस्ती इति गीतासु त्यागे भी प्रयोजन आवास तुल्य तो मित्र पूर्वादि की भाष्य में टीका है ये पूर्वादि की शंका है कर्म करने में जब प्रयोजन उसका कोई नहीं होता है सिद्ध नहीं होता है तो कर्म त्यागने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्यों त्यागे कर्म करता रहे कर्म करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ज्ञानी को तो कर्म त्यागने से भी क्या प्रयोजन सिद्ध होना है और गीता में कहा भी है नहीं बता से कृतयनार्थ हो ना कृतय ने कश्चन न करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता करने से भी कुछ मिलेगा नहीं उसको ऐसा बोला हुआ है कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ज्ञानी को कर्म करने से क्यों असंग आत्मा में पहुंचा हुआ स्वर्ग आदि चाहिए नहीं उसके दृष्टि में स्वर्ग आदि है ही नहीं ऐसी स्थिति हो जाएगी पूर्वादि तस् तस्य माने विदुष उस ज्ञानी का कृतयन कर्मणा अर्थो नास्ती प्रयोजन अर्थ माने प्रयोजन नास्ती तो किया हुआ कर्म का प्रयोजन नहीं होता जैसा होता उस प्रकार अकृतयन कर्म अभाव ना भी अकृत माने कर्म का अभाव ना माने कर्म अभाव है ना कर्म के अभाव से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उसका ऐसा कहा है लोके नाथ अस्तित्व कोई प्रयोजन नहीं थी गीता स्मरणात् ऐसे गीता में स्मरण किया भगवान ने इसलिए त्यागे भी प्रयोजन अभाव से तुल्यतम जैसे कर्म करने में प्रयोजन का अभाव है उसी प्रकार त्याग में तो त्याग कर्म त्याग करने में भी तो प्रयोजन का अभाव बराबर है क्यों छोड़े फिर कर्म को करता रहे ये पूर्वादी का में कहा शंका में विवृणत हुई उसी शंका को पूर्वादि और व्याख्या करता है क्या बोलता है ये आहो जो वेदांत लोग कहते हैं ये आहुर विदित्वा ब्रह्म वित्थान ब्रह्म को जान करके व्युत्थान करे कर्म परित्याग करके ऊपर उठ जाए ऐसा कहते हैं तेसाम अभी ऐसा समान दोष प्रयोजन अभाव उनके लिए भी समान दोष है कर्म न करना भी तो एक दोषी है प्रयोजन का अभाव वहां भी है प्रयोजन आई नहीं वहां क्यों छोड़ेगा कर्म ये कहा ठीक है कर्म त्याग से व्यापारात्मक व्यापार से क्लेशात्मकत्व तत्व अनुष्ठानम से सिद्धांति बोल रहे हैं देखो भाई कर्मत्याग यदि व्यापार स्वरूप होता जैसे कर्म करना व्यापार होता है उसी प्रकार कर्म का त्याग भी व्यापार यदि होता व्यापार स्वरूप होता कर्म त्याग से व्यापारात्मकत्व व्यापार स्वरूप होने पर व्यापार से क्लेशात्मक जो भी व्यापार होगा कष्ट होगा क्लेश होने से अगर वो व्यापार स्वरूप होता तो कर्म त्यागने में कष्ट होता आपको हाँ? कर्म त्याग से व्यापारात्मक व्यापार से क्लेशात्मक कर्म त्याग यदि व्यापार स्वरूप होता होने पर व्यापार जो होता क्लेश रूप होता कष्ट होता तद अनुष्ठान प्रयोजन इसलिए वो व्यापार करना एक अनुष्ठान करना प्रयोजन होता किंतु कर्म त्याग ना कोई क्या है कर्म त्याग व्यापार नहीं है व्यापार होता यदि तब तो क्लेश होता एक अनुष्ठान बन जाता क्लेश किंतु यह क्लेश नहीं हो पाता है कर्म त्याग में क्लेश नहीं कर्म करने में क्लेश है ये कहते हैं प्रयोजन से आप वो प्रयोजन बन पाता तब यदि व्यापार होता तो प्रयोजन होता क्यों प्रयोजन क्यों होता व्यापार क्लिष्ट होता कष्ट रूप होता है कष्ट होने से प्रयोजन होता हो किंतु प्रयोजन की अपेक्षा करता हो किंतु न तो यह तदस्थि तो ऐसा है नहीं जो व्यापार रूप है ही नहीं व्यापार रूप होने क्लेशात्मक नहीं है क्लेशात्मक होने से वो कर्म रूप है न तो यह तो है किंतु क्रिया भाव मात्रा उदासीन जो कर रहा था उसमें उदासीन हो जाना यह कर्माभाव होना जो कर्म चल रहा था उसमें उदासीन हो जाना चुप हो जाना यह है उसमें व्यापार नहीं होता इसलिए वो अनुष्ठान नहीं कहा जाता कर्म त्याग को अनुष्ठान नहीं कहा जाता ये कह रहे हैं न तो यह तथा तो किंतु क्रियाभाव मात्र उदासीन रूपम जो क्रिया चल रही थी कर्म चल रहा था उसको उदासीन में पहुंच गया कितना होना वहां कुछ करना नहीं पड़ता है व्यापार नहीं होता त्याग में तस्य स्वास्थ्य स्वरूपत्व जैसे स्वास्थ्य लाभ जो करना होता है स्वास्थ्य बिगड़ा था तो दवाई करना हो गया दवाई करते करते स्वास्थ्य अपने आप लाभ हो गया स्वास्थ्य पूर्व स्वास्थ्य के लाभ है उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा तो दवाई किया किसके लिए जो बिगड़ा आए थे उसको हटाया जिस स्थिति में आप हैं स्वस्थ से भाव स्वास्थ्य स्वस्थता जो तो लाई गई जो स्थिति में पहले था उस स्थिति में बैठा तो पहली स्थिति ठीक ठाक थी स्वास्थ्य शब्द का ही अर्थ होता है तो उसी स्थिति में आना था बीच में जो विघ्न आए थे उसको हटाने के दवाई दारू किया है अपने स्वरूप प्राप्ति नहीं किया उसे स्वरूप तो प्राप्त ही है और इसी प्रकार ये भी है ये कहते हैं तस्य जो त्याग है वहां स्वास्थ्य स्वरूपत्व जैसे स्वास्थ्य होता है स्वास्थ्य ने स्वास्थ्य सकार छुटा हुआ है स्वास्थ्य स्वरूपत्व वो स्वास्थ्य रूप होना है इसलिए स्वतः एवं प्रयोजनत्व तो स्वतः ही प्रयोजन है वो वहां व्यापार आदि कोई प्रयोजन नहीं करना पड़ता स्वतः प्रयोजन है वो ऐसे तो न प्रयोजनांतर अपेक्षा तो उसके लिए कोई प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है कर्म त्याग के लिए एक कहा न कहा अक्रिया मात्र व्युत्थान से भाषण कहा कुछ करना नहीं वहां व्यापार नहीं होना है इसलिए अनुष्ठान नहीं कर सकते उसको ये कहा ठीक है मैं त्याग से अन्यत्र कृप्त व्यापार हेतु जन्यत्वाभावाच व्यापार व्यापारत्व मिति अन्यत्र कृत व्यापार त्याग से अन्यत्र जो होता है ना जो कर्म त्याग करना है अन्यत्र करना माने कर्म करने में बहुत सारे व्यापार करना पड़ता है वो दिखाएंगे पहले त्याग से अन्यत्र त्याग से जो अन्य विषय है मैंने जहां कर्म होगा अन्य अन्यत्र माने होता है व्यापार व्यापारवती अज्ञ कहा त्याग से अन्यत्र माने जो व्यापार करने वाले अज्ञानी में त्याग त्याग न करने वाला व्यापार करने कर्म करने वाला जो अज्ञानी होगा उसमें त्याग त्याग अन्यत्र कृप्त व्यापार हेतु जन्यत्व अभाव उसमें कृप्त व्यापार हेतु जन्यत्व का अभाव है कृप्त संपूर्ण व्यापार का हेतु जन्य जो चाहिए उसका अभाव होता है इसलिए न व्यापारत्व इसलिए भी व्यापार नहीं होता माने त्याग करने वालों से अन्य में जितने व्यापार चाहिए उतने व्यापार यहां नहीं है त्याग करने वाले में इसलिए भी व्यापार नहीं कर सकते उसको ये कहा न व्यापार भक्तुम अन्यत्र कृत व्यापार हेतु अन्यत्र पूरे व्यापार का साधन होता है माने अज्ञानी जो कर्म करेगा उसमें व्यापार का पूरा साधन होता है इसमें साधन नहीं है इसलिए भी उसको व्यापार नहीं कर सकते हैं अनुष्ठान नहीं कर सकते कहना चाहते हैं इसलिए कहा अविद्या निमित्त ही प्रयोजन स्वभाव ज्ञानी में अविद्या नहीं है अज्ञानी जब तक प्रयोजन दिखता है तब तक अविद्या होती है प्रयोजन तृष्ठा तृष्णा जो होती है ना अविद्या के निमित्त का जब तक विज्ञान है अज्ञानी में अविद्या नहीं है इसलिए किसी के प्रयोजन की तृष्णा नहीं है क्यों कर्म करेगा वो ये कहना चाहते हैं ठीक है यदवा अथवा इसी का अर्थ विदुषा कथम यत्न बिना व्युत्थानम अवदासीन मात्र सिद्ध थी ज्ञानी का यत्न किए बिना व्युत्थान कैसे हो सकता है कर्म से उपराम कैसे हो सकता है प्रयत्न के बिना व्युत्थान अवदासीन मात्र उदासीन मात्र कथम थी कैसे सिद्ध होगा प्रयत्न के बिना ये शंका करके उत्तर देते हैं क्रिया हेतु अभाव आप कोई क्रिया नहीं उसके पास क्रिया का हेतु नहीं क्रिया का हेतु क्या है अविद्या अज्ञान अज्ञान हो तो कर्म करे कर्म का कारण नहीं हुआ क्रिया माने कर्म है वो क्रिया हेतु अभावात क्रिया भाव यदि भक्त हूं इसलिए क्रिया के लिए ही बोलते हैं तद हेतु महा क्रिया की सिद्धि के कर्म की सिद्धि के लिए उसका हेतु अविद्या को बोलते हैं जब तक अविद्या है कर्म करेगा क्यों फल की तृष्णा से प्रेरित है वो ये कहा प्रयोजन से भाव इत्यादि था उसका अर्थ करते हैं प्रयोजन से तृष्णा या भाव का अर्थ तृष्णा प्रयोजन से भाव भाष्य में उसका अर्थ तृष्णा प्रयोजन के तृष्णा से प्रेरित हुआ व्यक्ति कर्म करता है प्रयोजन की तृष्णा क्यों लगती है अविद्या अज्ञान है और इसमें अज्ञान नहीं है इसलिए प्रयोजन की तृष्णा नहीं है इसलिए कर्म नहीं करता ज्ञान तस्य तस्या वस्तु धर्मत्व विदुषो की तृष्णा वो जो अविद्या जो है ना यदि वस्तु धर्म हो आत्मधर्म हो तस्या हमारे अविद्याया वस्तु धर्म यदि वस्तु धर्म आत्मधर्म हो तो क्या होगा विदुषो भी तृष्णाचारी ज्ञानी भी आत्मरूप है उसको भी तृष्णा होनी चाहिए अगर आत्मधर्म हो तो, तो अविद्या आत्मा का स्वरूप हो तो ज्ञानी को भी तृष्णा होनी चाहिए अविद्या आत्मा तो आत्मस्वरूप तो ज्ञानी है तो उसमें भी तृष्णा होनी चाहिए अगर वो तृष्णा अविद्या आत्मस्वरूप हो तो तब कहते हैं तन निषेध उसका निषेध किया न वस्तु धर्म तो जो अविद्या की तृष्णा है वस्तु धर्म अच्छा न वस्तु स्वभाव इतना तो वस्तु का स्वभाव नहीं हो क्यों तस्या वस्तु थे विदुषो की तृष्णाश्या दीप्ता निषेधे यदि वो वस्तु धर्म हो अविद्या तो उस ज्ञानी को भी तृष्णा होनी चाहिए उत्तम कहा न वस्तु धर्म इत्यादि बोला न वस्तु स्वभाव वस्तु धर्मत्व ही विदुषाम अविदुषाम च सुसुप्ति मूर्छादि नाम साक्षात कहते देखो यदि वो तृष्णा वस्तु धर्म हो वो वो तो क्या हो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो सभी को विदुषो भी ज्ञानी को भी वस्तु धर्म हो तो आत्मधर्म यदि हो तो कब सुप्त मूर्छा मूर्छितादि नाम शास्य सुप्त पुरुष सुसुप्ति पुरुष को भी ये तृष्णा होनी चाहिए वहां सुसुप्ति अवस्था में किसी को भी तृष्णा नहीं होती है अथवा मूर्छित अवस्था में तृष्णा होनी चाहिए अगर वस्तु धर्म आत्मा तो है वहां इसलिए आत्मधर्म तृष्णा नहीं है वो अविद्याजन्य है वस्तु धर्मत्व ही विदुषाम अविदुषाम च सभी के लिए ज्ञानी अज्ञानी सबको सुप्त मूर्छितादि नाम सुप्त अवस्था अथवा मूर्छित अवस्था इत्यादि में सात सा तृष्णा सियाद यदि तृष्णा होनी चाहिए क्योंकि वहां नहीं है तृष्णा सुसुप्त अवस्था में किसी को किसी फल की इच्छा नहीं होती है तृष्णा नहीं होती है मूर्छित अवस्था भी नहीं होती है इसके मतलब वस्तु धर्म नहीं होता तो अविद्या के कारण से होती है फल की तृष्णा तो यह प्रदास्ती ऐसा नहीं है सुश्रुति आदि में तृष्णा नहीं होती है चार की टिप्पणी में कहा न तो यदि अनंतरम इति शब्दों द्रष्टव्यो अन्यथा असंगत है न तो यह तदस्थि के कि इति लगना चाहिए पंक्ति इस पंक्ति में कहा नहीं तो संगति नहीं लगेगी कहा अगर तत्र हेतु महा तृष्ठा जो है आत्मा का स्वरूप नहीं है वस्तु धर्म नहीं इसमें कारण बताते हैं तत्र पांच नंबर टिप्पणी कहा वस्तु धर्मत्व अभाव है तृष्णा वस्तु का धर्म नहीं है आत्मधर्म नहीं है इसमें कारण बताते हैं क्या कहा कारण क्या बताया है सर्व प्राणी नाम तत्दर्शना ये तृष्णा जो है फल की तृष्णा प्राणी मात्र को है पशु की भी प्रवृत्ति जो तृष्णा है भूख खाने की तृष्णा है पीने की तृष्णा इसलिए प्रवृत्ति हो रही कर्म करता हो अपने ढंग का कर्म पशु का भी है सबका है पक्षियों का भी है फलेच्छा तृष्णा सबकी है ये कहा सर्व प्राणी नाम तत्सना तृष्णा देखी गई है क्यों तृष्णा क्यों है अविद्या है इसलिए तृष्णा है अज्ञानी में अविद्या नहीं तो तृष्णा नहीं है तृष्णा नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी कर्म नहीं होगा ये कहा तब दर्शनाथ पाठे जो तो तद दर्शनाथ मैंने भाष्य में होना चाहिए सर्व प्राणी नाम दर्शनाथ इतना पाठ होना चाहिए यहां तो भाष्य में तद दर्शनाथ लिख दिया है तो टीका के अनुसार वह तत्पद नहीं है इसलिए बोलते हैं तद दर्शनाथ ही पाठ है अगर तद दर्शनाथ पाठ भाष्य में हो तो वस्तु स्वभाव अज्ञानी नाम आत्मा को न जानने वाले जो अज्ञानी है वस्तु माने आत्मा वस्तु स्वभाव अज्ञानी नाम वस्तु के स्वभाव न जानने वाले अज्ञानियों को गोपाल आदि नाम पर भी गाय पालने वालों का भी तृष्णा दर्शना तृष्णा वहां भी देखी गई है जो आत्मा को नहीं जानते हैं वहां भी देखा इसके मतलब तृष्णा आत्मा का धर्म नहीं है जो आत्मा को नहीं जानते हैं उनके पास भी तो है तृष्णा देखा है इसलिए न वस्तु धर्म यदि कथनचित व्यक्ति वस्तु धर्म नहीं हो सकता इस प्रकार युद्ध न करना तत्पद सहित पाठ हो तो कहा कथनचित व्यक्ति छह की टिप्पणी में कहा बंधेर तहा स्वभाव तो भी बालस्य अग्नि जलाती है ज्ञान नहीं है बच्चे को अग्नि का स्वभाव का ज्ञान नहीं बालक को नहीं है छोटा बालक को ज्ञान नहीं होता बंधेर दाह स्वभाव अजान तो बालस्य बढ़ने का जो स्वभाव होता है जलाने का काम वो नहीं जानता है छोटा बालक उसको भी तेरह दहा दर्शन अग्नि के द्वारा दहा देखा है न जानने वाले को जला देती है अग्नि अग्नि जलाती है ऐसा ज्ञान जिसको नहीं है उसको भी अग्नि जला देती है देखा है इसलिए तज ज्ञान से न दर्शनार्थ तज ज्ञान से तत्र अप्रयोजक तो अग्नि का ज्ञान वहां प्रयोजक नहीं हुआ जिसको अग्नि का ज्ञान हो उसी को न जलाए ऐसा प्रयोजन नहीं बन पाया क्यों जो अग्नि का ज्ञान दाहकत्व का ज्ञान है उसको भी जला देती है इसलिए अग्नि का ज्ञान वहां प्रयोजक नहीं है ऐसा हो गया आगे बोलते हैं इति मनीषया कथनचित प्रकारांतरेगम इति यावत प्रकार अन्य प्रकार से ही अर्थ आएगा कथनचित का अर्थ तृष्णावताम सर्वेशा अविद्या दर्शनाथ यदि सुविचम जो तृष्णावान है जितने भी हैं लोग सब तो अविद्यावान में तृष्णा होंगे अज्ञान के बिना तृष्णा नहीं हो सकती है अविद्या देखा है कहा धूमवत सर्वस्व बन्यवत्व यो यो धूमवान ससा बन्यमान ऐसे व्याप्ति मानते हैं जो जो धूम वाला होगा वो सबके सब अग्नि वाला होगा होने से धूमवत सर्वस्व जो धूम वाला जितने भी पहाड़ आदि होंगे पर्वत आदि होंगे बन्यवत बन्यमान होने से धूम से बन्य कार्यत्व तो जैसे बन्नी धूम जो होता है बन्नी का कार्य सिद्ध होता है क्यों जहां जहां धुआं होता है वहां वहां बन्नी होती है इसके मतलब धूम जो है अग्नि का कार्य है वो व्याप्य है ऐसा सिद्ध होता है इसी प्रकार यहां भी तृष्णावत सर्वस्व अविद्यावत्व है जहां जहां तृष्णा होती है वहां अविद्या है इसलिए अविद्या का कार्य तृष्णा सिद्ध हो जाएगा ये कहा तृष्णा तृष्णाया अविद्या कार्य तृष्णा जो है अविद्या का कार्य है ये सिद्ध हुआ ये कहा अच्छा। आगे है हमें कहते हैं तृष्णाया अविद्याजन्य तुम उपवा तृष्णा जो है अज्ञानजन्य है अविद्याजन्य कथन कर तस्य व्यापार हेतु तुम आहा अब वो व्यापार हेतु जो अविद्या है उसका कर्म का हेतु है जब अज्ञान है तो कर्म करेगा प्रयोजन इत्यादि का हाँ, तस्या माने ये तृष्णा आया जो तृष्णा है वो व्यापार का कारण है जब तृष्णा लगी तो कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी उसकी ये कहा ये कहा प्रयोजन तृष्णया से प्रियमान से बामन का ही प्रवृत्ति दर्शनार्थ भाषण का जो प्रयोजन की तृष्णा फल की आशा से प्रेरित हुआ व्यक्ति होगा वह क्या करेगा वाणी से मन से शरीर से तीन में से किस फल के से प्रेरित है उसके आधार पर कभी वाणी से प्रवृत्त होगा कभी मन से प्रेरित हो प्रवृत्त होगा कभी शरीर से प्रवृत्त होगा देखा है कहा ठीक है अच्छा <clears throat> दर्शनाथ यदि पंचमी अविद्या काम दोष निमित्ताया इति उत्तरत्र हेतु संबंध दर्शनाथ जो पंचमी प्रवृत्ति दर्शनाथ पंचमी है अगले पैरा में आने वाला है अविद्या काम दोष निमित्त आया वहां ले जाके अन्वय करना चाहते हैं ये जो प्रवृत्ति दर्शनार्थ जो ये पद है उसका अगले पायरा में है अविद्या काम दोष निमित्ताया इसके साथ अविद्या काम दोष निमित्तक जो अविद्या है उसका है अविद्या जो काम दोष आदि निमित्त अविद्या है उसको प्रवृत्ति देखा है जिसमें अविद्या ऐसी अविद्या है वहां प्रवृत्ति देखी गई है कहा वहां ले जाकर अन्वय करना बोला अच्छा न केवलम दर्शन में किंतु श्रुति रि अस्थि केवल देखा ही नहीं गया है प्रयोजन के तृष्णा से प्रेरित हुआ व्यक्ति कर्म करता है ऐसा देखा ही नहीं गया है श्रुति भी है कहते हैं अज्ञानी ने कामना की श्रुति बोलती है फल की तृष्णा से प्रेरित हुआ व्यक्ति कर्म करता है तो फल की तृष्णा कब होती है अभी अज्ञान होने पर होती है तो श्रुति भी बोलते है खाली देखा ही नहीं गया है श्रुति भी कहते सो काम आया था उस अज्ञानी ने कामना की इच्छा की क्या इच्छा की फल की तृष्ठा से प्रेरित था उसको पुत्र चाहिए था पुत्र फल की तृष्ठा से प्रेरित होने से जाया में से मेरी पत्नी हो जाए तो पुत्र के साधन देखा पत्नी को देखा उसने इसलिए पत्नी की इच्छा करता है पत्नी के लिए पति नहीं चाह रहा है उसको पुत्र चाहिए क्यों उसने सुना है पुत्र अयम लोग को जाइए सुना हुआ है इस लोग को जीतना है तो पुत्र चाहिए सुना है तो पुत्र के साधन पत्नी है इसलिए पत्नी को चाहता है फल के तृष्णा से प्रेरित हुआ व्यक्ति के ऐसी प्रवृत्ति होती देखा है ये कहा सो काम सो कामयत इत्यादि ना उभे हेते ऐसा बहुत यदि वाक्य रचा तो शो सो कामयत इत्यादि वाक्य से लेकर उभे साध्य साधन भाव दोनों के द्वारा ऐसा आयता ये वाक्य के द्वारा पुत्र वित्तादि काम्य में जो पुत्र वित्तादि जितने भी है सब काम्य काम्य कर्म के अंतर्गत ही है सब काम्य है इच्छा के विषय ही है ये सिद्ध होता है ही ब्राह्मणे अवधारणा वृद्धा में ऐसा निश्चय किया है आगे जाकर के बोला उभे एते साध्य साधन लक्षण ऐसा ही ऐसा उसी में कहा है ये साध्य साधन भाव जो भी देखा है ये ऐसा ही है ऐसा कहा है पांत लक्षण कहा ये कर्म जो होता है पांच पांच मिलकर के होने वाला है इसलिए पांत कहा कर्म को पांत बोलते हैं पांच होता है यजमान होगा पत्नी होगी पुत्र होगा दैववृत्त मानुष पांच होगा पांच मिलकर के कर्म होता है कोई भी कर्म करते समय में क्योंकि वैदिक कर्म अकेला व्यक्ति कर नहीं विदुर कर नहीं सकता पत्नी चाहिए साथ में तो यजमान पत्नी होगा पुत्र की आवश्यकता है वहां और दैव वित्त है उपासना आदि करेगा मानुष वित्त गो आदि चाहिए दान करना है उसको ये सब चाहिए उसको हाँ। जाया पुत्र दैव मानुष वित्त द्वय कर्म भी पंचवीर योगा पांत पांत लक्षण कर्म इत्यर्थ कर्म का स्वरूप बताए पांत है कर्म क्यों पत्नी है पुत्र है दैव वित्त मानुष वित्त दो दो वित्त है यहाँ वित्त द्वय बोला दैव वित्त मानुष वित्त दो वित्त है धन है वो और द्वय कर्म भी इसके द्वारा कर्म के द्वारा पंचवीर ये पांच के द्वारा योगा पांचम लक्षण कर्म कहा एक स्वयं यजमान होगा स्वयं यजमान है पत्नी है पुत्र है दैव वित्त मानस वित्त पांच है पांच कर्म के द्वारा निष्पन्न होता है इसलिए यज्ञ कर्म को कहते हैं पांच ये इन कर्मों के साथ ये पांचों पंचभीर कर्म भी ये पांचों कर्म शब्द से लिया कर्म भी है कर्म भी कर्मभीर भी ये पांचों को कर्म शब्द से लिया ये पांच के द्वारा संपन्न होता है यज्ञ इसलिए उसको पांगता कहा एक तो स्वयं है और जाया पुत्र दैव मानुष वित्त इत्यादि है कर्म एक कहा सात आठ की टिप्पणी में कहते सात कर्म भी कर्म अत्र चेष्टा मात्र में कर्म क्या है चेष्टा प्रवृत्ति प्रवृत्ति के कारण ही होते हैं प्रवृत्ति क्यों होते फल की इच्छा है फल की इच्छा के लिए साधन चाहिए आपको फल प्राप्ति के लिए चेष्टा अच्छा आठ का कर्म वैदिक कर्म है कर्म से कौन लेना हम जो लौकिक कर्म कर रहे हैं कर्म शास्त्रीय कर्म के लिए इनकी आवश्यकता है लौकिक कर्म तो अकेला भी कर सकता है नौकरी चाकरी अकेले कर लेता है उसके लिए पांचों की आवश्यकता नहीं है वैदिक कर्म का समय पत्नी चाहिए पुत्र चाहिए स्वयं चाहिए मानस वित्त पांच चाहिए वैदिक कर्म की बात है टिप्पणी में आगे शंका उठा दे ननु पुत्र आदि पांग लक्षण यदि भाष्य विरुद्ध थे पुत्र वित्त आदि पांग लक्षण पांग लक्षण भाष्य जो लिखा है विरुद्ध होगा भाष्य में कहा था पुत्र वित्त आदि पांग लक्षण जो कहा हुआ भाष्य में विरुद्ध है क्यों विरुद्ध होता है क्यों तो कहा पुत्र आदि ने भी कर्मांगत यहाँ कर्म बोल दिया और भाष्य में कहा था पुत्र आदि पांच को पंक्त बोला था यहाँ कर्म शब्द दिया विरुद्ध होगा कहते नहीं तो टिप्पणी में कहा पुत्र आदि ने भी कर्मांगत्व जो पुत्र आदि कर्म के अंग होने से कर्म शब्द से कह दिया उसको कर्मांगत्व ना कर्मांतर भावात कर्म के अंग होने के कारण कर्म के अंतर्भूत हो गए इसलिए कर्म शब्द से ले लिया ये कहा अच्छा हो गया उभे इत्यस्य महा कहा साध्य साधन दोनों का अर्थ यही है साध्य साधन भाव संसार सबके सब यही है ऐसा है साध्य की इच्छा होती तो साधन की इच्छा हो जाती है साध्य साधन सब ऐसा में फल इच्छा जो होती है साधन इच्छा की जनित होते फल की इच्छा होती तो साधन की इच्छा होगी तो साधन भी इच्छा में है फल भी इच्छा में है सारा संसार इच्छा में व्याप्त है ऐसा कहा समय हो गया है मेरा ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचे प्रतिष्ठित आविराविर्मयेभिस्तः श्रुतं देवा प्रहासीरनेनाभीतेना तान् सन्ददामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मानवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति